ताकि वो उन फवायद को आंखों से देखें जो उनके लिए रखे गए हैं और मुतन दिनों में उन चौपायों पर अल्लाह का नाम लें जो अल्लाह ने उन्हें अता किए हैं चुनाचे मुसलमानों उन जानवरों में से खुद भी खाओ और तंग दस्त मोहताज को भी खिलाओ